शोबा ने हमें हुमैद से हदीस बयान की उन्होंने कहा मैंने हजरत अनस रजी अल्लाह तु को कहते सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे एक पूछने लगाने वाले गुलाम को बुलाया उसने आपको पूछने लगाई तो आपने उसे एक सा एक मुद या दो मुद देने का हुक्म दिया और उसके मुतालिक उसके मालिकों से बात की तो उसके महसूल में कमी कर दी गई सही मुस्लिम हदीस नंबर चार हजार चालीस